प्रणोति ओ, ओ शिक्षकों का जो शिविर चल रहा है इसमें प्रातःकाल एक कक्षा में सत्य के बारे में कैसे रुचि पैदा की जाए कैसे बताया जाए एक विषय चल रहा है आज ये पूछा गया था कि आप आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आए हों जहां न चाहते हुए भी असत्य बोला गया हो अथवा ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें हमें असत्य बोलना पड़ा इसके कुछ उदाहरण लिखने थे पांच या तो कम हो तो कम भी तो उनमें से कुछ प्रसंग विचार के लिए समाधान के लिए मेरे को दिए गए हैं उन पर कुछ चर्चा करते हैं तो पहली स्थिति जब मैं धर्म शिक्षक का प्रशिक्षण लेने आया तो अपने साथियों से झूठ बोलना पड़ा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें ये विचार करना है कि ये असत्य था या नहीं था झूठ था या नहीं था जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो इसको झूठ ही समझा है और उन्होंने इसको झूठ क्यों समझा है क्योंकि वो धर्म शिक्षक के कार्यक्रम में शिविर में जा रहे थे लेकिन उनको ये नहीं बताया कि मैं धर्म शिक्षक के शिविर में कार्यक्रम में जा रहा हूं सीधा उत्तर तो स्पष्ट उत्तर तो ये था इसकी जगह पे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं तो जो कहना चाहिए था वो नहीं कहा इसलिए ये झूठ है ऐसा ही अभिप्राय रहा होगा जिन्होंने भी इसको दिया झूठ किसे कहते हैं असत्य किसे कहते हैं असत्य बोलना किसे कहते हैं जैसा ज्ञान हमारे मन में है जैसा हमने देखा सुना अनुमान किया जैसा भी ज्ञान हमारे मन में है उससे भिन्न बोलना ये असत्य झूठ कहलाएगा अब ये जो उत्तर दिया गया मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं तो धर्म शिक्षा का शिविर भी जो आए हैं उनके लिए कार्य है किसी कार्य से ही जा रहे हैं तो इसे हम असत्य क्यों कहें किसी के पूछने पर यदि हम स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं लेकिन सामान्य उत्तर देते हैं विशिष्ट उत्तर नहीं देते सामान्य उत्तर देते हैं तो भी वो असत्य नहीं हो जाता किसी ने पूछा कहा जा रहे हो बस यहीं पास में जा रहा हूं वो व्यक्ति नहीं बताना चाहता किसके घर पे जा रहा हूं या बाजार में जा रहा हूं कहा जा रहे हो बाजार जा रहा हूं क्या खरीदने जा रहे हो अब वो वस्तु बताना नहीं चाहता जिसको खरीदने जा रहा है कहता है कुछ सामान खरीदने जा रहा हूं तो ये असत्य नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं हम जब हम सामने वाले को अपनी बात पूरी नहीं बताना चाहते हम कोई गलत भी नहीं कर रहे हैं किंतु सामने वाला यदि कुछ गलत अर्थ ले ले उससे कुछ हानि हो सकती हो हम नहीं चाहते कि इसको हम इसको ये बात बताई जाए वो बताया जाने के योग्य नहीं है तो वहां हम विशिष्ट बात न कह के सामान्य कथन करते हैं तो क्या लेने के लिए जा रहा हूं बाजार में ये न बता के बस इतना बताया कि कुछ सामान लेने जा रहा हूं तो भी ये अपने आप में झूठ नहीं है असत्य नहीं है किसी ने पूछा कहा जा रहे हो जा तो रहा था बाजार लेकिन कह दिया कि मैं विद्यालय जा रहा हूं जा तो रहा था मोहन से मिलने के लिए लेकिन पूछ लिया कि भाई मिलने जा रहा हूं किसी से किससे मिलने जा रहा हूं तो मोहन नाम न बोल के सोहन बोल दिया सोहन से मिलने जा रहा हूं ये झूठ है ये असत्य है हम जब किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम ले, ले देंगे फिर तो उसी के पास जा रहे हैं ये होगा जा कहीं और रहे थे यदि आप ये बोलते कि मैं छुट्टियां बिताने जा रहा हूं अथवा और कुछ बोल देते कि मैं घर जा रहा हूं आ रहे थे धर्म शिक्षा के लिए आश्रम में लेकिन बोल देते कि मैं घर जा रहा हूं माताजी रुग्ण है पिताजी रुग्ण है उनकी सेवा के लिए जा रहा हूं ये झूठ हो जाता है ये जो वचन है मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं इसे असत्य नहीं कहेंगे अनेक बार सुनने वाला जब अपात्र होता है योग्य नहीं होता तो हमें ये सामान्य कथन करने होते हैं इससे कोई आपत्ति नहीं इसे झूठ नहीं कहते ठीक है किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें अगला प्रश्न एक बार किसी दुकानदार ने मेरे से सामान खरीदने के बाद पैसे मेरे सामान सब पैसे वापस लौटाए यानी इन्होंने खरीदा और इन्होंने पैसे भी दिए और दुकानदार ने बचे हुए पैसे वापस लौटाए तो उसने ज्यादा रुपए दे दिए मेरे से पूछा कि पैसे ठीक हैं जैसा कि प्राय करते हैं गिन के दिया और हम भी गिनते हैं हमने गिना उसने पूछा ठीक है ठीक है थे ज्यादा रुपए तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है तो ये असत्य हो गया ये वास्तव में असत्य है हमें पता है कि ये वस्तु इतने रुपए की ली है मैंने इतने रुपए इनको दिए हैं और कितने वापस आने चाहिए थे इतना भी मुझे पता है और जब गिने तो उससे अधिक रुपए हैं ये भी मुझे पता है तो ये ठीक तो नहीं है अधिक रुपए हैं ये बोलना असत्य है अब विचारणीय ये है कि हमने असत्य क्यों बोला ऐसी स्थितियों में हम असत्य क्यों बोलते हैं तो कारण तो स्पष्ट है कि मेरे को अधिक रुपए मिल गए क्योंकि हम रुपए चाहते हैं रुपए से हमारे बहुत से कार्य सिद्ध होते हैं इसलिए हमने अधिक ले लिया उसको पता भी नहीं लगा उसको क्या पता उसने ले लिए दूसरे शब्दों में कहें तो वो वस्तु जितने रुपए की थी उतने की बजाय हमने सस्ते में ले ली दिया तो है ही हमने कुछ ना कुछ हमने उसको सस्ते में ले लिया जो रुपया दुकानदार का था हम भाव ठहरा चुके थे तभी सौदा हुआ था तभी पैसा दिया गया था उससे पहले वस्तु ली गई थी लेन देन हम कर चुके हैं वाणी से हो चुका है अब पैसे दिए हैं तो ये अधिक रुपए लेने के लिए रुपए के लोभ के कारण असत्य बोला गया और असत्य को बोलने वाले के मन में इन स्थितियों में ये रहता है कि मुझे इससे लाभ हो रहा है लाभ मान के ही तो उसने ऐसा किया अगर मैं सच बोल दूंगा तो मुझे रुपए लौटाने पड़ेंगे और मैं झूठ बोल देता हूं कि ठीक है तो मेरे को रुपए मिल जाएंगे मेरा लाभ होगा झूठ बोलने वाला उसमें अपना लाभ देख करके झूठ बोलता है झूठ बोलने में कोई हानि दिखाई नहीं देती उसको और हुई भी क्या हानि अगर कोई दूसरा सोचे इनको तो जिन्होंने भी ये प्रश्न लिखा है अपनी स्थिति लिखी है ये किसी के भी साथ आए दिन होती रहती है घटना ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है ऐसा प्राय होता रहता है इन्होंने इसमें लाभ देख करके ये लिया पैसे का लाभ देख के लिया प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में लाभ है और झूठ से कोई हानि नहीं होगी ये भी उनके मन में है और आज तक किसी को पता भी ना लगा हो ये तो इन्होंने इसमें लिखा अभी भी ये तो नहीं पता किसने किया क्योंकि नाम किसी का भी नहीं लिखवाया है उसमें जिनका भी था यह अभी तक किसी को भी नहीं पता लगा तो झूठ बोलने से कोई हानि भी नहीं हुई जो रुपए अतिरिक्त लिए थे उससे कुछ हमने और खरीद लिया और काम में ले लिया उसका तो जब भी हम झूठ बोलते हैं लोभ के कारण से तो हमारे मन में ये निश्चित रहता है कि इससे मेरे को लाभ हो रहा है हानि नहीं है जो भी झूठ बोलता है ऐसा ही सोचता है या कुछ और भी सोच लेता है वो हमेशा लाभ के लिए ही हम करते हैं कुछ तो क्या लाभ हुआ उसको वो थोड़े से रुपए उसने पचास की जगह या चालीस की जगह साठ रुपए दे दिए तो बीस रुपए का फायदा हो गया हमारे को क्या वास्तव में हमें लाभ हुआ भौतिक दृष्टि से तो लाभ हुआ लेकिन ईश्वर की दृष्टि से पाप पुण्य की दृष्टि से क्या लाभ हुआ दुनिया के किसी और व्यक्ति को पता नहीं लगा है इस घटना का और न किसी ने दंड दिया न वो रुपए छीने गए लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था से क्या होगा यहां पर ईश्वरीय व्यवस्था से क्या होना चाहिए ये जो हमने दूसरे से अधिक रुपए ले लिए ये हमारे तो नहीं है ये अन्याय पूर्वक हमने लिए हैं और उसका हमने भोग कर लिया तो ये तो हमारे नहीं है ये तो ले लिए जाएंगे और जो दूसरे के साथ हमने अन्याय किया उसका दंड भी मिलेगा जैसे कि कोई चोर सौ रुपए की चोरी करता पकड़ा गया तो अब उस क्या होगा उसके साथ में उसने जेब काट ली सौ रुपए की चोरी कर ली और पकड़ में आ गया वो पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो सौ रुपए का क्या करेगा उसे ले लेगा या उसी चोर के पास में छोड़ेगा चोर से ले लेगा चोर से वो रुपए ले लिए जिसके हैं उसको दे दिए तो रुपए तो गए ही क्योंकि चोर के थे ही नहीं वो रुपए और दंड और मिलेगा थप्पड़ लगेंगे डंडा लगेगा डांट पड़ेगी अपमान होगा ये अतिरिक्त होगा तो इसमें क्या लाभ हुआ चोर को चोर ने तो ये सोच करके रुपए चुराए थे कि इससे मेरे को लाभ होगा चुराते समय चुराने से पहले चोर के मन में निश्चित ये था कि मेरे को इससे लाभ होगा लेकिन वो पकड़ लिया गया तो हमें सबको पता है कि इससे उसकी हानि हुई वास्तव में हानि हुई दुनिया के मनुष्य देखें या न देखें लेकिन परमात्मा तो देख ही रहा है परमात्मा तो जान ही रहा है इस स्थिति में कोई हमें पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा ये बात ही नहीं है हम तो पकड़े पकड़ाए हैं जब भी हम चोरी करेंगे जब भी दूसरे का धन लेंगे अन्यायपूर्वक हम पकड़े पकड़ाए हैं न पकड़े जाने की कोई संभावना ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये धन तो हमारा है ही नहीं जिसे हम सोच रहे हैं हमने दूसरे से ले लिया भले ही उस उतने रुपए का कुछ खा पी लिया लेकिन उतने रुपए हमारे भाग्य में से खाते में से कम हो ही जाएंगे यदि चोर ने चुरा करके पैसे ले करके खा पी लिए उड़ा दिए पैसे और फिर बाद में पकड़ में आ गया तो उसके घर में जो दूसरे रुपए हैं वो ले लिए जाएंगे उसके बैंक से ले लिए जाएंगे उसकी वस्तुएं बेच करके ले लिए जाएंगे किसी भी तरह उसकी पूर्ति होगी वो ही रुपए लें ये नियम नहीं है और यदि रुपए नहीं है तो उसके बदले में उसको अधिक दंड मिलेगा कोई ऐसा कंगाल है कि रुपए मिल ही नहीं सकते जो रुपए लिए वो खा पी करके समाप्त कर दिए कुछ उससे वो रुपए निकलवाए ही नहीं जा सकते तो दंड मिलता है फिर दंड अधिक मिलेगा कुल मिलाकर के हानि है तो जब हम चोरी करते हैं झूठ बोलते हैं ये उदाहरण चोरी झूठ दोनों का है चोरी भी एक तरह की है ये पर द्रव्य का हमने हरण किया झूठ बोल करके जब भी हम ऐसा कार्य करते हैं तो हम उसमें लाभ देख रहे होते हैं जबकि उसमें हानि होती है और जब धार्मिक व्यक्ति उसमें हानि देखता है हानि देखने लग जाता है उसे समझ में आ जाता है कि यहां दूसरे का पैसा लिया तो मेरी हानि होगी तो कोई भी आत्मा अपनी हानि नहीं करता अपनी हानि के लिए कोई चोरी नहीं कर सकता कोई भी चोर इसलिए चोरी नहीं करेगा कि मैं चोरी करूंगा और फिर मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर मेरे मेरी पिटाई होगी इसलिए मैं चोरी करूंगा कभी नहीं करेगा जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है और चोरी कर रहा है उसे अपना पकड़ा जाना दिखाई नहीं दे रहा है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उसको ईश्वर का स्मरण नहीं आ रहा है क्योंकि उसे ज्ञात नहीं है अथवा वो भूल गया है कि ईश्वर भी मेरे इस कर्म को देख रहा है दूसरे शब्दों में वो उस समय जिस समय झूठ बोल रहा है या चोरी कर रहा है अभी नास्तिक है वैसे भले ही ईश्वर को मानता हो वैसे भले ही ईश्वर की भक्ति करता हो ईश्वर का नाम लेता हो जप करता हो और कुछ भी ईश्वर के नाम पे करता हो लेकिन कम से कम जिस समय उसने झूठ बोला चोरी की उस समय वो नास्तिक है ईश्वर को नहीं देख रहा है ईश्वर को नहीं जान रहा है ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था को वो स्मरण में नहीं रख पा रहा है तब व्यक्ति ये कर्म करता है इसलिए ईश्वर का विश्वास ईश्वर की न्यायकारिता ये मन में जब भी होगी तो हम चोरी या झूठ या और भी कोई गलत कार्य वो करेंगे ही नहीं किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें दूसरे में अगला मेरे ससुर ने मेरे लिए गर्म शाल खरीदने हेतु मेरी जेठानी को चार सौ रूपये दिए बाजार में जेठानी जी ने मुझे 250 रुपए की शाल दिला दी और बाकी जो 150 रुपए बचे उससे अपने लिए सैंडल खरीद लिए जेठानी ने खरीद लिए <laughs> अब यानी इन्होंने कुछ नहीं किया इन्होंने चोरी नहीं की लेकिन स्थिति क्या मुझसे कहा कि यदि घर पर कोई पूछे तो शाल का मूल्य चार सौ रूपये बता देना ससुर साहब ने नहीं ससुर साहब से उसने कहा कि शाल की कीमत चार सौ रूपये है और मैं चाह कर भी न कह पाई यानी चुप रही लेकिन कह नहीं पाई पर अंदर से ये बात परेशान करती थी कि उसके झूठ में मैं भी शामिल हो गई मुझे क्या करना चाहिए था वैसे झूठ बोलने का संबंध हम वाणी से लगाते हैं जैसा मन में वैसा वाणी में हो तो सच और विपरीत बोल दो तो झूठ इन्होंने तो कुछ बोला नहीं तो इसे झूठ कैसे कहें इन्होंने भी ये नहीं लिखा है कि मैंने झूठ बोला लेकिन कहा झूठ बोलने में समर्थन कर दिया झूठ बोलने में समर्थन हो गया योग दर्शन में इन वितर्कों के लिए आया वितर्कानी अहिंसा हिंसा असत्य आदि जो यम के विपरीत जो हैं तो झूठ भी उसमें एक वितर्क है वो कैसे कैसे होते हैं <clears throat> वो कृत भी होते हैं होते हैं कारित भी होते हैं और अनुमोदित भी होते हैं स्वयं करे यानी स्वयं झूठ बोले कारित यानी दूसरे से झूठ बुलवा दे खुद नहीं बोले झूठ दूसरे से बुलवा दे और तीसरा है अनुमोदित उसका समर्थन अनुमोदन कर देना तीनों तरह से होता है तो जेठानी ने जब कहा कि चार सौ रुपए का ये शॉल था तो ये एक तरह से चुप रहना उसका अनुमोदन हो गया इस दृष्टि से ये झूठ बनेगा चुप रह करके भी झूठ बोला जाता है चुप रह करके भी झूठ बोला जाता है बोल के ही नहीं संकेतों में भी झूठ बोला जाता है तो उस तरह का ये असत्य ही असत्य की श्रेणी में ही आएगा अब इनका प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए था अब बात तो मन में खटक रही है बात तो उस समय भी खटक रही थी कि मैं गलत कर रही हूं ऐसा बहुत होता है हम लोगों के साथ भी सबके साथ हो सकता है अब फिर ये विचार करें कि क्यों नहीं बता दिया ससुर साहब को कि ये शॉल तो 400 का नहीं है 250 का है क्यों नहीं बताया क्या दिक्कत लग रही थी उस समय बोलने में कुछ हानि दिख रही थी लाभ तो कुछ नहीं हुआ लाभ तो कुछ नहीं हुआ सीधे सीधे लेकिन बोलने में हानि दिख रही थी अथवा लाभ में थोड़ा सा यह है कि जेठानी जी का समर्थन मिल गया जेठानी जी क्या समझेंगी ये मेरी प्रिय है मेरी हितकारिणी है मेरी प्रिय है मेरा हित चाहती है ये हित ही तो चाहती है ना तो डेढ़ सौ रूपये का सैंडल मिल गया तो वो संबंध अच्छे बने रहेंगे क्या तो ये लाभ दिखाई दे रहा है अथवा हानि दिखाई दे रही है यदि मैं ससुर साहब को <laughs> बोल दू तो जेठानी और दौरानी देवरानी दौरानी उनका जो झगड़ा कभी और शुरू होना था वहीं से शुरू हो जाएगा प्राय झगड़ा होता है जेठा नहीं दे रहा उन्हीं का वो झगड़ा उसी दिन से शुरू हो जाएगा ये मेरे को कहेगी डांटेंगी बड़ी है इन्हीं के साथ रहना है घर में परिवार में निभाना है तो बोलेंगी कुछ ना कुछ समस्या पैदा हो जाएगी तो उस हानि से बचने के लिए ये प्रयोजन हो सकते हैं लाभ की प्राप्ति या हानि से <laughs> बचने के लिए और क्या प्रयोजन हो सकता है ये प्रयोजन हो सकता है इस समय करना क्या चाहिए फिर है तो झंझट ना दुविधा की बात है ना दोनों तरफ हानियां हैं एक तरफ धर्म का है कि मैंने झूठ बोला और वो अभी तक मन में है कि देखो झूठ बोल दिया ऐसी स्थितियों में अच्छा ये है कि उसी समय उनको कह देते कि जी ये ठीक नहीं है बाद में ये कहना कि ये तो शॉल तो चार सौ ही रुपए का था बाद में कहने की बजाय पहले ही कह देना चाहिए जिस समय वो कहें कि डेढ़ सौ रुपए का सैंडल खरीद लेते हैं और बाद ऐसा कह देना बोले जी ये तो ठीक नहीं है आपको खरीदना है तो पैसे खरीद लीजिए आप हाँ। मैं दिलवा देती हूँ आपको ये कर सकते हैं आप मैं आपको दिलवा देती हूँ लेकिन वहां हम झूठ नहीं बोलेंगे अथवा हम यही कह देंगे कि जी डेढ़ सौ रुपए का इन्होंने सैंडल लिया और ऐसा ले लिया और अगर वो स्वीकृति दे देते हैं तो ठीक है और नहीं कहते हैं नहीं मैंने तो शॉल के लिए ही पैसे दिए थे तो डेढ़ सौ रुपये उनको लौटा देंगे लौटा देंगे पैसे डेढ़ सौ तो अगर हम खुद अपने पैसे दें तो जेठानी स्वीकार करेगी नहीं जेठानी बड़ी होती है और उनको ये कभी स्वीकार नहीं होगा कि मेरे को चाहिए और ये दे और इसलिए ले लू फिर तो जेठानी तो यही कहेगी ना प्राय नहीं फिर तो मैं ही ले लूंगी मैं ही ले लूंगी वो भिक्षा क्यों लेगी जेठानी देवरानी से वो कहेगी मैं ही ले लूंगी <clears throat> अब इसके अंदर हमने जेठानी का भला किया या हानि की जेठानी ने सोचा मेरा लाभ हो गया डेढ़ सौ रूपये ससुर साहब से मिल गए सैंडल मिल गए और हमने भी सोचा कि इससे जेठानी का कुछ भला हो रहा है लेकिन जेठानी की हमने हानि की जेठानी के मन में झूठ का या चोरी का संस्कार है स्वभाव है उसकी हमने पुष्टि कर ली और वो गलत रास्ते पे जा रही थी हमने उसका बढ़ावा कर दिया समर्थन कर दिया उस पर एक संस्कार और पड़ गया गलत का यदि हम उनको प्रेम से कहते समझाते तो सुलझ जाती बात राय करके और जो समझदार होता है वो तो संकेत से ही सब जान लेता है अगर किसी ने अपने संस्कार वशात किसी गलत कार्य के लिए कह भी दिया हमारे को और हम अगर उसको कहें तो ये तो ठीक नहीं रहेगा अगर वो इज्जत वाली है थोड़ी भी शर्म वाली है तो एकदम समझ जाएगी कि नहीं ये गलत जगह मैंने कह दिया अगर ले लिया तो बाद में बात खराब हो जाएगी उस समय भी तो इज्जत प्यारी होती है जेठानी के वो देवरानी के सामने अपनी इज्जत प्यारी होती है ना अगर देवरानी ने ये कह दिया कि नहीं ठीक नहीं है तो वो ज्यादा जोर नहीं लगाई है अगर समझदार है तो वो समझ जाएगी और बात वहीं खत्म हो जाएगी मन में थोड़ा दुख होगा उसको क्षोभ होगा लेकिन बात समाप्त हो जाएगी बढ़ेगी नहीं अधिक हाँ अगर संस्कार बहुत खराब है तो वो इसको द्वेश के रूप में भी ले लेगी प्रतिशोध के रूप में भी ले लेगी मेरी बात नहीं मानती है बड़ों की बात नहीं मानती है ये अभी से इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं <laughs> और भारतीय संस्कृति क्या है बड़ों की बात माननी चाहिए देवरानी माँ के जेठानी माँ के समान होती है बड़ी होती है तो इस ढंग से सोच लें तो ये गलत हो जाएगा तो ऐसी स्थितियों में प्रारंभ से ही हमें भविष्य का सोच लेना चाहिए कि ये ये समस्याएं आने वाली हैं आगे और आज ये है कल दूसरी बात होगी और अगर हम जेठानी की जगह पे हों तब हम सोचे हमने ऐसा किया आज हमने ऐसा करवा लिया देवरानी से देवरानी को पता है अब जेठानी को क्या सोचना चाहिए कि देवरानी के मन में मेरे बारे में क्या छवि चली गई क्या छवि चली गई अगर हम दूसरे के सामने कुछ गलत कार्य करते हैं दूसरे से करवाते हैं समर्थन लेते हैं तो दूसरे को ये पता लगता है ना कि चोरी कर रहा है ये झूठ बोल रहा है मेरे से झूठ बोलवा रहा है पता लगता है ना अब जेठानी की क्या छवि देवरानी के मन में बनी अब आगे तक रहेगी कैसी है ये अविश्वास का बीज पड़ जाएगा आगे जो इतने व्यवहार होने वाले हैं वहां हर जगह कहीं भी ये लेना देना बाजार आना जाना जिंदगी भर चलता रहेगा आगे तक के लिए क्या रहेगा कि ये झूठ बोलती है इस पर विश्वास नहीं कर सकते और कभी अपने बच्चों को छोड़ने जाना हो छोड़ के जाना हो अगर धर्मिष्ठा मां है धर्म की धर्म की प्रिय है धर्मनिष्ठ है तो उसके मन में क्या आएगा कि अगर मैं बच्चों को इनके पास छोड़ के जाऊं बच्चे से फिर कि कभी कोई मंगाए काम कराए और फिर ऐसे ही झूठ वूठ बोलेगी तो मेरे बच्चे को गलत आदत नहीं पड़ जाए बच्चे को संस्कारित बनाना है ऐसे बहुत सारे व्यवहार हो सकते हैं जहां हर जगह ये शंका बनी रहेगी हमारे मन में जेठानी के प्रति तो ऐसी स्थितियों में भी प्रारंभ में ही रोक देना ज्यादा अच्छा होता है थोड़ा बुरा लगेगा और ससुर यदि बुद्धिमान हो तो यदि उसने चार सौ रुपए दिए हैं और आके कोई कहता है कि हाँ चार सौ का ही आ गया तो उसके मन में क्या आएगा तो पूरा ही चार सौ का चार सौ का आ गया रहा है उसमें गड़बड़ होती है ब्रह्मचारी बच्चे इस बात को समझते नहीं है वो बाजार सामान लेने भेजा बच्चे हुए पैसे का कुछ और प्रयोग कर लिया आके बोला नहीं पूरी इतने की है ये ठीक है पूरी इतने की आई है वही संदेह पैदा हो जाता है किसी दुकानदार से हम सामान खरीदने गए और उसने कहा कि ये सौ रुपए की है और एक दुकानदार ने कहा ये एक सौ तीन रुपए की है कौन ज्यादा ईमानदार या सही मूल्य वाला प्रतीत होगा हमें है सौ वाला या एक सौ तीन वाला <laughs> एक सौ तीन वाला लगेगा इसने कुछ नापतोल करके ठीक ठीक बताया है तो एक सौ आठ रुपए की है <laughs> एक सौ नौ रुपए की है एक सौ पंद्रह रूपये की है और एक सीधा ही कह रहा है कोई भी चीज हो ये सौ रूपये की या दो सौ रूपये की या पांच सौ की जो भी चीज है या हजार हजार की है तो ये एक हजार दो हजार कुछ नहीं बताता तो आजकल बिल्कुल सही रुपए बनवाने के एक सौ इक्यानवे रूपये सितानवे पैसे आजकल जूते चप्पलों पे आप बहुत जगह देखेंगे पैसे ऐसे लिख ऐसे लिखते हैं जैसे कि बिल्कुल ठीक हो अब मेरे साथ कई बार ब्रह्मचारियों के साथ होता है ब्रह्मचारी आते हैं पैसे जमा कराने होते हैं ब्रह्मचारी को तो रखने नहीं होते नियम होता है तो कई ब्रह्मचारी आकर के दो सौ रूपये पकड़ाते हैं या सात सौ रूपये पकड़ाए पूरे तो मेरे मन में पहला ही प्रश्न ये होता है कि भी इतनी यात्रा करके आ रहा है कुछ खाया पिया होगा लिया होगा क्या एक दो रूपये चिल्लर नहीं बचे होंगे <laughs> ऐसे ब्रह्मचारियों को पूछता हो कि सारे दे दिए क्या बोले हाँ जी सारे दे दिए कई बार होता है ऐसा कई तो बिल्कुल पूरा बताते हैं उनको मैं पहले से बोलता हूँ कि सारे पैसे दे देना वो कहते हैं जी कुछ दो चार पांच सात रुपए बचे होंगे तो हो सकते भाई तो जब आपको कहा था कि सारे पैसे दे दो पर वो देता है पांच सौ सात सौ रूपये ग्यारह सौ रूपये ऐसे पूरे पूरे रुपए देता है तो जब पूरे पूरे रुपए दिए जाते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति व्यवहार के आधार पे थोड़ा उसको संदेह तो हो ही जाएगा कि ये सारे रुपए दे रहा है या तो एक दो रुपए इधर उधर करके दे रहा है दस बीस रुपए बचा के रख लिए ये देता है तो जब ससुर साहब को जाके ये बोलेंगे कि जी चार सौ रूपये दिए और चार सौ का ही शोल आ गया है तो मेरे जैसा ससुर हो तो संदेह अवश्य करेगा कि काला है दाल में कुछ न कुछ पर ठीक है इनके ससुर जी अच्छे होंगे तो उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया माता जी बोलिए ना पति को समझ पाती है ना परिवार को समझ पाती है हम्म। उसको सोच दिलाया जा रहा है कुछ भी दिलाया जा रहा है हम्म। ठीक है जेठानी उसके के पास में हम्म। हालांकि बोलना चाहते हैं बहुत उसको बोल रहना पड़ता ना पति को कह सकती ना किसी परिवार को कह सकती और माँ के कैसे शिक्षा दी गई है कि जैसे तेरे को रखे वैसे ले लेना ये शिक्षा ठीक है या नहीं है ये विचारणीय है ठीक तो नहीं है लेकिन जब नहीं लेता तो मजबूरी होती है ये मजबूरी में मजबूरी में ही लिखा है इन्होंने कि भाई मजबूरी है तो अच्छा अब देखिए मजबूरी क्या हमारी घर से कह के भेजा कि भी जैसा रखे वैसा रखते हैं इसी में भलाई है पहली बात तो ये शिक्षा देनी ही गलत है आर्य माता पिता ये शिक्षा नहीं देंगे उसको बताएंगे क्या स्थितियां आती है क्योंकि ऐसे आर्य माता पिता को भी ये समस्या आई उनको पता है जीवन का कि जीवन में ऐसा होता है ये अब माता पिता का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को ये सिखाएं ऐसी ऐसी स्थितियों में ये करना चाहिए कैसे आप रास्ता निकालोगे क्या उपयुक्त है जो प्रश्न आज इन्होंने यहां रखा है लेकिन नहीं हो पाता सब जगह नहीं हो पाता ये शिक्षण नहीं हो पाता समस्या रहती असमंजस रहता है क्या करें झगड़ा नहीं करना चाहते मजबूरी में अगर हमें ऐसा करना पड़ रहा है तो ऐसी मजबूरी नहीं है इतनी बड़ी मजबूरी इसको कर सकते थे बुद्धिपूर्वक अगर हमारे मन में ये हो कि धर्म के अनुसार मुझे चलना है प्रेम भी बना के रखना है संबंध भी बना के रखना है लेकिन फिर भी मुझे ये करना है अच्छा परिवार की या अपने पियर की मजबूरी तो हमने समझ ली इस मजबूरी से तो थोड़ा बहुत छटपटा करके हम बच भी जाते हैं परमात्मा की मजबूरी से वो मजबूरी हमें दिखाई नहीं दे रही वो तो उसका न्याय तो उसका जाल तो ऐसा है जिससे कोई खिसक भी नहीं सकता ये तो तड़प भी नहीं सकता खिसक भी नहीं है उस ढांचे में यूं कहीं एकदम मिलेगा जैसे किसी को दंड देने के लिए किसी कोठड़ी में रख दे ना एक छोटी सी कोठरी हो तो थोड़ा बहुत चल लेता है वो और जो आतंकवादी और कुछ विशेष लोगों को जैसी कुटिया दी जाती है ना ऐसी कोठरी दी जाती है कि वो ढंग से बैठ भी नहीं सकता है उसमें या तो लेटा रहेगा दिन भर लेटे भी तो तड़प जाता है लेटे लेटे ढंग से लेट नहीं सकता इतनी सी जगह करवट भी ढंग से ना ले सके ऐसी जगह किसी को डाल दिया और परमात्मा की तो ऐसी उसमें सरक भी नहीं सकता इधर उधर ऐसे सांचे में ढलेगा कि थोड़ा बहुत भी यूं सोचे मैं थोड़ी करवट ले लूं थोड़ा सा बच जाऊं थोड़ा आराम आ जाए नहीं वो तो जैसा दंड है वो जो का तू मिलेगा कोई छूट नहीं है वहां पर अब वो कौन सी बड़ी मजबूरी है तो जब जब हम अधर्म करते हैं झूठ बोलते हैं कुछ भी करते हैं उस उस समय हम नास्तिक होते हैं हमें परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा होता हमें माता पिता ही बड़े दिखाई देते हैं हमें सास ससुर ही बड़े दिखाई देते हैं हमें अपना पति ही बड़ा दिखाई देता है उससे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें पति दिखाई देता है परम पिता परमात्मा दिखाई नहीं देता क्योंकि पति से झगड़ा हो गया तो जीवन खराब हो जाएगा दुख होगा और परमात्मा से झगड़ा हो जाए तो कोई दुख ही नहीं है क्या फर्क पड़ता है जेठानी से झगड़ा हो जाए तो जिंदगी में खट खटपट होगी वो नाराज हो जाएगी और परमात्मा नाराज हो जाए तो कुछ नहीं परमात्मा है ही नहीं नाराज क्या होगा इन सब के मूल में हमारा जो सोच और चिंतन है वो गलत है भारतीय संस्कृति क्या है क्या ऐसे संबंध निभाना भारतीय संस्कृति है भारतीय संस्कृति तो धर्म है भारतीय संस्कृति तो वेद है उसके अनुसार चलना ये तो ठीक है हाँ। रास्ता अवश्य होना चाहिए हम इन सब चीजों को यदि गलत ढंग से लें व्यवहार अगर गलत कर दें तो बहुत झगड़ा हो जाएगा और दुखी रहेगा व्यक्ति लेकिन हमारे पास रास्ते हो सकते हैं हम उसको बुद्धिपूर्वक थोड़ा कर सकते हैं इतनी हानि नहीं होगी उल्टा उस व्यक्ति का विश्वास बनता है कि नहीं ये झूठ नहीं बोलती ये झूठ नहीं बोलता ये चोरी नहीं करता इसका वचन बिल्कुल ठीक है जैसा करता है या करती है वैसा ही बोलता है और ऐसा व्यक्ति अमूल्य होता है दुर्लभ होते हैं ऐसे व्यक्ति और जो व्यक्ति जो चीज दुर्लभ होती है उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है संसार की दृष्टि से भी देखें तो ईश्वर की दृष्टि से तो है ही इन घटनाओं को जो हम ले रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं इससे अपने मन में किसी को ग्लानी लाने की या लज्जित होने की बात नहीं होनी चाहिए ये तो एक विश्लेषण चल रहा है खुले रूप से ये किसी ने कहा किसी ने नहीं कहा लेकिन ऐसी घटना है ये या इसकी दूसरी हम करते रहते हैं होती रहती है इनका विश्लेषण इनको जानना आवश्यक है तभी तो हम आगे के लिए सावधान रहेंगे और इन चीजों से बच सकेंगे ये कोई ऐसे अपराध नहीं कि हमें लगे कि इसका विवेचन हो गया या मेरी कोई हंसी हो गई या कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है इसमें किसी को अपमानित नहीं किया जा रहा है ये केवल विश्लेषण है इससे बड़े बड़े झूठ बोलते हैं इससे बड़े बड़े अन्याय अत्याचार व्यक्ति करते हैं अगला प्रश्न इसमें किसी को पूछना कुछ अच्छा तो यह पहले ही वो कर लेती है बाद में होता तो उसके पास कई विकल्प थे मान लो बोल भी दिया तो जेठानी जी को जब भी बाद में कभी होती प्रेम जब होता अच्छी स्थिति होती अनुकूलता तो उनको कहते कि जी मेरे को बहुत खटक रही है बात कि हमने ससुर साहब से ऐसा किया मैं बोला मेरे को दुख हो रहा है ये खटक रही है ये अच्छा नहीं हुआ और उनको समझाएं झगड़ा नहीं करना है आपके कारण से मेरे को कष्ट हो रहा है आपने ये क्या कर दिया और आपने मेरे से भी करवा दिया और ऐसी भाषा नहीं हमको प्रेम से रहना है उनको सुधारना भी है तो जी मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है और बार बार मेरे मन में आ रही है ये कि ये अच्छा नहीं किया हमने ये ठीक नहीं है ये विश्वास तोड़ने वाली बात है तो दे देना चाहिए उसको समझाए अगर समझदार है तो वो बात समझ जाएगी अच्छा चलो ठीक है डेढ़ सौ कोई बड़ी बात नहीं होती अधिक भी हो तो भी दे दे वो दे देगी और वापस ससुर साहब के पास जाकर के दोनों वो ही जाकर के दे दें कि जी हमने उस समय गलती कर दी थी हम्म, उस समय दिमाग कुछ गलत सोच रहा था हमने गलत दृष्टि से ले लिया और लोक में आके ऐसा बोल दिया ये गलत हमारे से बहुत गलती हो गई हम आपसे क्षमा चाहते हैं और ये डेढ़ सौ रूपये आप, आपके ठीक है ये उसका सुधार हो गया आप ससुर साहब हो तो क्या करेंगे ससुर क्या करेंगे आप ससुर होते क्या करते मैं होता तो मैं माफ कर देता उसको नहीं गलती की है लेकिन आकर के बताया सब समझाते देखो आपने अच्छा किया मेरे को बता दिया डेढ़ सौ रुपए का कोई मूल्य नहीं है परिवार में डेढ़ सौ रुपए दो सौ पांच सौ हजार एक दूसरे को देते हैं सामान है परिवार है कोई बात नहीं है चलो आपने अच्छा किया और आगे से कभी ऐसा मत करना अब ससुर के मन में जेठानी और देवरानी के प्रति विश्वास बढ़ेगा या क्या होगा बढ़ेगा कितना विश्वास बढ़ेगा कि देखो गलती करके भी इन्होंने अपनी सच्चाई को बता दिया गलती को बता दिया ठीक है एक बहुत अच्छा संबंध बनता है अगर जेठानी तैयार ना हो जो भी मैंने प्रक्रिया बताई और जेठानी तैयार ना हो उसे लगता हो कि मैं कहूंगी तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा तो फिर देवरानी के पास में एक और विकल्प बचता है कि वो ससुर साहब के पास जाए भारतीय संस्कृति का बहाना नहीं बनेगा कि ससुर से कैसे बात करूं भारतीय संस्कृति है भी नहीं ये तो बात कर सकते हैं एक धर्म के लिए बात करने जा रहे हैं अपनी जो शालीनता मर्यादा है उसमें रहते हुए उनसे समय लेकर के कि जी मेरे को आपको थोड़ी सी बात कहनी है पर आपसे एक निवेदन है कि उसमें आप क्षमा करेंगे गुस्सा नहीं होंगे कि मेरे से ये त्रुटि हो गई जेठानी जी ने ऐसा ऐसा कहा आप जेठानी जी को भी कुछ नहीं कहेंगे लेकिन मेरे मन में बात चुभ रही थी इसलिए मैंने आपको कही है ठीक है ये करके आप निवेदन कर सकते हैं जेठानी के प्रति मन में तो भाव आएगा ही उनके उतना तो विपरीत होगा ही और कोई ससुर उग्र है तो वो इनको तो ठीक है लेकिन जेठानी को डांटेगा तुमने ऐसा किया अथवा उस समय नहीं हुआ लेकिन कई साल बाद में कोई बात उभरी कोई बातचीत चल रही है झगड़ा हो गया तो पुरानी बातें उखड़ उखड़ करके आती हैं उखाड़ते हैं अपने उस समय भी ऐसा किया था वो रोक नहीं पाते हैं वो बोलने में आ जाएगी हो सकता है ऐसा लेकिन देवरानी उनको भी जा करके बता सकती है <clears throat> अपने पति को बता सकती है जहां जैसी अनुकूलता बने कुछ बता सकती है ऐसा कर सकती है और कई उपाय हैं ठीक है एक और प्रश्न है लेकिन वो बहुत सामान्य रूप से लिखा गया है मैं चाहता हूं कि वो जिनका भी हो यदि कुछ वो विशेष घटना को बोलेंगे तो फिर विश्लेषण ठीक होगा प्रश्न है कि कई बार सामान्य लाभार्थ भी जब बात का लाभ अधिक बड़े जन समूह को हो तो भी झूठ बोलना पड़ जाता है क्या यह ठीक है यानी लाभ तो थोड़ा सा है लेकिन वो थोड़ा लाभ बहुत लोगों का है बड़े समूह का लाभ है तो उस समय झूठ बोलना पड़ जाता है क्या यह ठीक है तो सीधा सा उत्तर तो यह कि ठीक नहीं है जिसे हम लाभ समझ रहे हैं वहां लाभ है या नहीं है ये विचार की बात है जैसे पिछली घटनाओं में आपके सामने मैंने रखा चोरी करने वाला झूठ बोलने वाला लाभ देख रहा है इसी तरह यहां भी जन समुदाय का बड़े समुदाय का लाभ वो व्यक्ति देख रहा है लाभ है या नहीं है ये एक अलग बात है विचारने की बात है वो घटना विशेष अगर बताएंगे कि किस परिस्थिति में मैंने ये झूठ बोला और उससे समाज का क्या लाभ हुआ ये अगर वो प्रस्तुत करें तो विवेचना ठीक ढंग से हो सकती है तो सामान्य उत्तर का तो सामान्य रूप से यही उत्तर ठीक है तो इतना ही रखते हैं आगे और कुछ होगा तो इस विषय में नहीं तो और प्रश्न आपके आज आए हैं उनको फिर आगे लेने का प्रयास करेंगे